आत्मा का जन्म कब हुआ था उसकी उम्र कितनी और आत्मा कितना बड़ा होता है बोलो आत्मा कितना बड़ा होता है उसकी उम्र कितनी उसका जन्म कब होता है आत्मा अमर है न जन्म लेती है न मरती है किसकी पत्नी है स्त्री जाति हुई तो कोई पति भी होगा उसका आत्मा जन्म नहीं लेती है मरती नहीं है तो किसी की तो औरत होगी परमात्मा का टुकड़ा है आत्मा कितना बड़ा परमात्मा का अंश है जैसे आग की चिनगारी ऐसे परमात्मा की चिनगारी है आत्मा ऐसा हुआ जैसे समुद्र का पानी का बुलबुला ऐसे आत्मा है हम्म तो चिंगारी तो फूको तो या तो आग लगाएगी या तो बुझ जाएगी ऐसी आत्मा या तो मर जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा आत्मा का ज्ञान आत्मा की प्रीति और आत्मा में शांति बस हो गया सब काम हो गए आत्मा का ज्ञान ज्ञान के बिना प्रीति टिकेगी नहीं आत्मा का ज्ञान वो आत्मा सत भी है चेतन भी है ज्ञान स्वरूप भी है समर्थ भी है तो स्त्री जाति नहीं है पुरुष जाति नहीं है नपुसक जाति भी नहीं है और स्त्री पुरुष नपुसक सब उसी से सिद्ध होते नान्यत्र जाति भी उसी से सिद्ध होती है ये नान्यतर है वो भी आत्मा से ही सिद्धि होती ये पुरुष है ये स्त्री है ये भी आत्मा से सिद्धि होती आत्मा की कोई जाति नहीं आत्मा का कोई पुरुष स्त्री नान्यतर नहीं है आत्मा की कोई उम्र नहीं है क्योंकि उसका जन्म ही नहीं है जिसका जन्म होता है उसकी उम्र होती है आत्मा अज है तो एक अज दूसरा आत्मा का ये स्वभाव है अविनाशी अज माना अजन्मा अविनाशी माना उसका नाश नहीं होता और ऐसा नहीं कि इधर है उधर नहीं है विभू भी है विभू माना व्यापक है तो अजन्मा भी है अविनाशी भी है और विभू भी है तो जो विभू है तो यहाँ भी है अविनाशी है तो अभी भी है अजन्मा है तो फिर हम तो जन्मते हम नहीं जन्मते शरीर जन्मता है दुख जन्मता है सुख जन्मता है वो मरते हैं उसको जो जानता है उसी को बोलते आत्मा तो मेरा नाम आत्मा है मैं मैं मैं आपका नाम सभी का आत्मा है समझ गए हाँ। स्त्री पुरुष के खोखे में दिखते हैं आकाश सोने के घड़े में दिखे चाहे मिट्टी के घड़े में दिखे आकाश न सोना है न मिट्टी है आकाश दोनों का आधार है ऐसी आत्मा स्त्री पुरुष नान्यतर पशु पक्षी सबका आधार है और परमात्मा का अंश है ये बोलने भर को है जैसे घड़े का आकाश बनाया तो कि महाकाश का अंश है लेकिन वो घड़े के कारण अंश दिखता है अभी भी वो महाकाश है अभी भी आत्मा परमात्मा है अभी भी आत्मा चेतन है वो अलग नहीं हो सकता बूंद तो अलग हो जाएगी चिंगारी भी अलग हो जाएगी वो अलग नहीं होता जो अलग नहीं होता वो मैं हूं ये मानने में बड़ी हिम्मत चाहिए लल्लू पंजू नहीं मान सकते जो अमर है वो मैं हूँ जो चेतन है वो मैं हूँ जो अजन्मा है वो मैं हूँ मैं माना शरीर को मैं लेके नहीं मैं जहाँ बुद्धि भी नहीं मन भी नहीं इंद्रियां भी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं को जो जानता है वो मैं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते करते उसको जो जानता है वो कौन है जानने वाला बोले मैं ज्योति स्वरूप जान ज्ञान स्वरूप ये गुरु की आखिरी कृपा की कुंजी लगती तो उनमें हो जाता बस इसी को बोलते आसोद शुद्ध दो दिवस उसके बिना कितना भी जमीन ले लो भाइयों से हक ले लो टीवी ले लो बहरी ले लो माया में ही गिरेगा ईश्वर से विमुख हो जाएगा ईश्वर से विमुख होकर कुछ भी मिला तो धोखा है घाटा है और सब कुछ लुटा के भी ईश्वर मिलता है तो फायदा है चंडाल के घर की भिक्षा खाने को मिले ठीकरे में एक टाइम और ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सानिध्य शरण मिले और ये ज्ञान मिले तो उधर पड़े रहना चाहिए ये ऐसी चीज है योग वशिष्ठ में लिखा है चले थे हरि भजन को उटन लागे कपास मनुष्य जन्म मिला था मन परमात्मा को आत्मा को जानने के लिए लग गए दूसरे काम में फिर राजा नृग क्रिकेट बन गया अकल वाला तो था બધું સાચવ્યું भी है तो राजा नृग પછી क्रिकेट થઈ ગયો राजा भरत हिरण बन गया हिरण नहीं बने तो नाली में बह जाए इतना हानि होता है आत्मा परमात्मा को नहीं जानने वाले का इतना घाटा होता है इससे बड़ा घाटा क्या हो सकता है अंधे न कूपे न प्रविशंति अंधकूप में जाते माँ के गर्भ में क्या होता है रोशनी होती क्या नरक में क्या होता है अंधे न कूपे न प्रविशंति कितना भी धन मिल गया फिर भी क्या मिला सत्ता मिल गई क्या मिला पत्नी बढ़िया मिल गई आखिर कब तक पति बढ़िया मिला आखिर कब तक शरीर तो रहने वाला नहीं शरीर मरेगा ये तो पक्की बात है संत महात्मा ऋषि मुनि यहाँ तक कि भगवान ने भी ये नियम पाला शरीर छोड़ दिया भगवान ने भी राम जी ने शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा श्री कृष्ण ने भी छोड़ा बोलो अपना शरीर कब तक रहेगा शरीर है तब तक काम बना ले बस ये बुद्धिमानी है तो आत्मा की उम्र नहीं होती उम्र जन्मने वाले की होती आत्मा कम में बड़ापन छोटापन नहीं होता हम्म आत्मा स्त्री पुरुष अथवा अनशंसी नहीं होता ये तो आम आदमी को समझाने के लिए बोलना पड़ता है आम पब्लिक में भगवान का अंश हो तुम क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं इसलिए भगवान का अंश बाकी अनशंसी थोड़े हो काट अनशंश टुकड़े टुकड़े थोड़े होगा जैसे मिठाई तो थोड़ा थोड़ा अंश अंश सबको बांट दिया वैसे ये परमात्मा में से आत्मा है आत्मा है आत्मा है ऐसा नहीं होता वो कुछ मनमाना धर्म चलाते हैं मजहब पंथ फिर वो बोर्ड पे देखते बोले ये ये ये आत्माएं स्वर्ग में जाती है ये आत्माएं नरक में जाती <laughs> ऐसा दिखाते हैं कल्पना करके ऐसा नहीं होता जो सूक्ष्म शरीर में वासना होती है वो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा आत्मा कहीं जाएगा आएगा नहीं तुमने यहां से घड़ा उठाया तो घड़े में पानी भरा है दूसरा घड़ा उठाया उसमें चावल भरे हैं सामान भरा है तो पानी ले जा सकते चावल ले जा सकते घड़े में लेकिन घड़े का आकाश जो इधर का है वो तुम ले जाएंगे क्या खाली घड़े का आकाश यहां से ले जाओगे वो तो घड़े में से पार हो जाता है चावल हो घड़ा में कुछ भी हो तो पार हो जाएगा उसको कहाँ ले जाओगे तो सब जगह है ऐसे चैतन्य तो सब जगह है आत्मा कहीं जाता आता नहीं सूक्ष्म शरीर जाता है तो सब आत्मदेव की चेतना तो साथ में ही रहती है जैसे बस दौड़ रही है तो बस के पैसेंजर तो एक जगह से दूसरी जगह उठा के जाएंगे लेकिन बस के अंदर का आकाश बस उठा के ले जाती है क्या बस से आ, आर पार हो जाता है और बस जहाँ जाए वहाँ आकाश मिलेगा उसको ऐसे ही आत्म चैतन्य वो है विभू व्याप्त सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम सदा में समत्वम न मृत्यु न बंधा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम ये मृत्यु और बंधन सूक्ष्म शरीर को है स्थूल शरीर को है मुझ आत्मा को नहीं ऐसा अनुभव हो जाता है महापुरुषों को जो सत शिष्य होता है गुरु आखिरी में वहां पहुंचा देते जो गुरु से निभा ले आखिरी तक थोड़ा सा मिला और बोले मैं भी गुरु हूं तो जा जख मारो फिर थोड़ा सा मिला और बोले चलो आप खाओ पियो मजा करो तो जाओ भोगो मजा में सजा छुपी है हम्म। बहुत ऊंची चीज है भगवान के दर्शन से भी आगे की चीज है आत्म साक्षात्कार भगवान शिव का दर्शन हो गया शिव जी की कृपा से विष्णु का दर्शन हो गया फिर भी प्रचेताओं ने प्रार्थना किया कि भगवान अब जो हमारे हित में हो वो ही दीजिए तो बोले देव ऋषि नारद मिलेंगे और वो तुमको ब्रह्म विद्या देंगे ये आप ब्रह्म विद्या सुन रहे हैं अभी देव ऋषि नारद अब विष्णु भगवान प्रसन्न हुए शिव जी प्रसन्न हुए तब ब्रह्म ज्ञान देने वाले नारद जी मिले और आपको तो ऐसे ही मिल रहा इसका कितना कितना मूल्य इसका क्या बदला क्या चुकाएंगे बदला चुकाना तो दूर रहा और फिर घिसा पिटा कोई निंदा करे तो उसके ऊपर पाप भी ऐसे खतरनाक लगता है और फिर बुद्धि मारी जाती फिर निर्णय गलत करके दुख होता है आदमी को बदला तो गुरु का चुकाना नहीं है बदला नहीं चुकाया लेकिन बदले में निंदा करे जो गुरु से विद्रोह करते हैं या गुरु से गद्दारी करते हैं उनकी बुद्धि अंतर्यामी आत्मा ही तो गुरु है वो मार लेता है फिर कर्म निर्णय ऐसे करवाते हैं ले बेटे लो सजा और श्रद्धा रखते हैं तो अंदर में बुद्धि में प्रकाश भी ऐसा देता है और गुरु के हृदय के द्वारा कृपा भी वर्षा देता है धीरे धीरे ऊपर उठे जितना गुरु से वफादार उतना वो परमात्मा संतुष्ट होता है हम अगर गुरु से जरा भी बेवफा होते तो हमारा काम नहीं बनता सीधी बात है हमारा कितना प्रताड़न कितना भगाने वालों ने क्या क्या हुआ लेकिन हम गुरु में कभी दोष दर्शन क्यों कर एक बार गुरु मान लिया फिर क्या मारो गुरु कलाल खाने जाए तो मारो गुरु मारो नंद राय ले બીજું કઈ કેવું છે તન ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा ये तो उसका वैभव है क्या ऊंचे अनुभव में होते हुए भी नीचे से नीचे व्यवहार में ये उसमें उसमें महाराजा धीराज होता है वो भी चपरासी का काम कर सकता फिर भी महाराजा पद नहीं जाता है तो ये असली पद है बड़े सेठ हुए जरा सा गाड़ी चलाई तो इज्जत चली जाएगी अरे कृष्ण तो घोड़ा गाड़ी भी चला लेते गोपियों के आगे नाच भी लेते ले कैसा वैभव है आत्मा का कृष्ण को आत्म साक्षात्कार ही तो है और क्या है घोरंगी रस गुरु की और सांदीपनी गुरु की दोनों की कृपा से श्री कृष्ण स्वामी योग शक्तियां तो बचपन में किसी में भी हो अवतारियों में भी होती है ज्ञानेश्वर में भी थी भगवान नारायण का रूप था तो पहले की थी चलो देखी कृष्ण व्यक्ति को पहचान के साधना बताते औधों को बोलते सब कुछ छोड़ के चला जा बद्री का आश्रम अर्जुन को बोलते सब लेकर युद्ध कर मेरे साथ मैं तेरा महादर्शन करता हूँ बोलो कृष्ण तो वही के वही लेकिन पात्र अलग अलग है तो उनके लिए अलग अलग उपदेश और गोपियों को कहते हैं कि बस मुझी में प्रीति करो भजताम प्रीतिपूर्वकम हम को कहते हैं व्रत रखो एकादशी करो प्रजा का पालन करो फिर तुम मुझे पाओगे और गोपियों को बोलते तुमसे दूर भी नहीं हूं मुझे तो तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती अब कृष्ण को कौन सी तराजू में तोलेगा कोई चेला फट जाएगी खोपड़ी उसकी <laughs> है हाँ? ब्रह्मज्ञानी को किसी ने तोलने की कोशिश की गया काम से मत करो वर्णन हर बेअंत है मत करो वर्णन हर बेअंत है जैसे परमात्मा ब्रह्म बेअंत है ऐसे ब्रह्म में रमण करने वाले को तोलना बेअंत है हमने हमारे गुरुजी के जीवन में ऐसा ऐसे देखा कि आप लोगों को सुनाऊं तो आप मुंह में उंगली डाल के बैठ जाएंगे बबलू होके वैसी ऐसी लीलाएं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गुरु ने माने मानवी देखे दे व्यवहार कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक मोझार hmm. गुरु तन में आके बोलते कि वो अनंत होते एक तन में दिखते हैं लेकिन अनंत तनों में अनंत मनों में अनंत ब्रह्मांडों में उनका वैभव व्याप्त होता है नहीं होता है सात साल जिस कमरे में बापू रहे वो कमरा अभी भी साफ सुफ कई नौकर चाकर है इन सेठ को आ, हाँ। इनको फैक्ट्री का माल विदेशों में जाता है वो खुद ही साफ करते हैं घर वाले लोग नौकरों से नहीं कराते बापू का कमरा और बापू मिलते भी हैं नहीं मिलते क्या मुरादाबाद में नहीं मिलते क्या बापू है देख ले हम मुरादाबाद वाले हाथ ऊपर करो आज आया झुंड झुंड कितनी तपस्या बारह साल तप करे मैं तपस्वी हूँ दुनिया लुंडी क्या जाने मैं फल पे रहता हूँ तो मैं बन जाएगा ये ज्ञान नहीं मिलेगा गुरु के हम तो छटांग भर सुल्फा फूंक देते हैं ये गृहस्थी लोग क्या जाने छटांग भर अफीम पी लेते हैं तुम तो पी के दिखाओ लो अफीम पीने का भी अहंकार अद्भुत हम तो खड़े ही खड़े रहे बारह साल खड़ेश्वरी दुनिया लुंडी क्या जाने ये ज्ञान के बिना तो सब कोई किसी कूप में कोई किसी कूप में हम गृहस्थी है ये भी एक कुआ है तो हम तपस्वी ये भी एक कुआ है हम विलासी हैं खाते पीते हैं मौज करते हैं ये भी एक कुएं में पड़े हैं मरने वाले शरीर से मौज करता है मूर्ख आयुष्य नष्ट हो जाएगी फिर बिलार बनेगा कुत्ते से डरेगा वो क्या मांस खाने की मौज है तो फिर मांसाहारी बिलार बनो अंधे न कुपे न प्रविशंति कोई कुछ पाकर ईश्वर के सिवा कुछ पाकर अपने को सुखी मानता है या बड़ा मानता है वो अंधे कुएं में गिरा है उपनिषदों में आता है भगवान कहे और उपनिषद कहे तो भगवान को बोलो प्रभु आपको प्रणाम है उपनिषद आपके पहले ये उपनिषद का वचन है अंधे न कूपे न प्रभिशंति भगवान की गीता को हम भगवान है इसीलिए गीता को नहीं मानते भगवान ने उपनिषदों की व्याख्या की है इसलिए गीता का इतना मान है भगवान बोले हैं इसलिए गीता महान है ऐसा नहीं है उपनिषदों का अमृत है और फिर भगवान ने बोला इसलिए गीता महान कितना ज्ञान मिल रहा है यहां इसका क्या बदला चुका होगा कितनी परतें खुल रही आप कोई वहम में नहीं डाल सकता कि गीता बड़ी है भगवान ने के इसलिए नहीं उपनिषद है इसलिए उपनिषद है उसकी व्याख्या भगवान ने की तत्श्रीमद भगवत गीता उपनिषद ईशु अध्याय ध्यान योग श्री कृष्ण अर्जुन संवाद समापन नीचे आया हो आता है उपनिषद वेदवाणी है उपनिषद एक उपनिषद से काम हो जाए तो साक्षात्कार तो बड़ा बड़ा नहीं तो दस ग्यारह इक्कीस एक सौ आठ एक हजार एक सौ आठ है उससे साक्षात्कार कर लो गुरु के गुरु बताएगा उपनिषद का व्याख्या नहीं तो तो श्लोक पढ़ लिया रख लिया नहीं होता काम दिए से दिया जलता है ना बाती तेल कितना भी हो लेकिन जले हुए कांडी के बिना और दिया नहीं जलेगा ना ऐसा होता है जैसे एक बर्तन का दूसरे बर्तन में ऐसे एक अनुभव दूसरे तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में घी डाला तो वो बर्तन तो खाली हो गया लेकिन यहाँ दस दिए जला हो तो क्या जले हुए दिया हाँ बुझ जाएगा सौ दिए जला दो तो जला हुआ दिया बुझ जाएगा सौ जला दिए क्या क्या सौ जगह उसकी जोत चली गई हजार दिए जलाओ तो क्या हजार जगह उसकी जोत चली गई क्या लाख दिए जला दो तो क्या उसकी जोत चली गई क्या ऐसे ही एक ब्रह्म ज्ञानी हजारों लाखों दिए जला देता है इसीलिए बोलते हैं ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने कल दिन भर यूं यूं करते थे जरा सा टेलीफोन आया तो कैसा हृदय कैसा हो गया कल ही टेलीफोन से भी फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया हाँ। तो आत्मा का वजन कितना होता है आत्मा का वजन नहीं होता और सारे वजन आत्मा ही ले बैठा है लो आत्मा का वजन नहीं और सारे वजनों को थामने वाला वही है कितने मकान होंगे धरती ले खड़ी लेकिन धरती का वजन कौन ले खड़ा है कितना सूरज तेरा लाख गुना बढ़ा कौन उसको थामा हुआ है एक सेकंड में पचास लाख टन कार्बन गैस सूरज खाता है पृथ्वी से उठाता है एक सेकंड में पचास लाख टन और बदले में वो ऊर्जा फेंकता है जिसमें कोई वजन नहीं उसमें इतना सारा हो रहा है क्या अपरम्पार लीला है एक दो आदमी को लेके उड़ने वाला जहाज में एक टन वजन होता है जहाज का अपना खोखे का और सौ आदमी तीन सौ आदमी पांच सौ आदमी लेके जहाज उड़ता है अरे इतना बड़ा बोइंग है आठ सौ आदमी को अरे इससे बड़ा जहाज ही नहीं है अरे करोड़ करोड़ लोगों को लेके उड़ने वाला पुष्पक विमान हो गया वो भी मिट गया सौरभ नगर था सौरभ राजा का पूरा राज्य उसी में मिलिट्री भी उसी में खान पान रहन सहन शैलव शैलव राजा का शैलव सौद नगर जहाज में ही था द्वारका में कृष्ण को ललकारा कृष्ण ने बोला तुम ऊपर हम नीचे जरा कृपा करो नीचे आओ तो एकड़ी एकड़ी में आया तो उसका जहाज ही तोड़ दिया ले नहीं तो ऊपर से ही युद्ध करता रहता उड़ता रहता कैसा कैसा योग्यता थी शाल वसव नगर जिसमें वजन नहीं उसमें इतने वजन वाले जहाज घूम रहे कैसी लीला है वो कोई आकाश पाताल वाला नहीं है तुम्हारे आत्मा में वजन नहीं और रात को कितने तुम जहाज बना देते हो नहीं बनाते क्या मकान बनाते हो सारा वजन तुम्हारे में है तुम्हारा कोई वजन नहीं है शरीर का वजन है तुम्हारा वजन नहीं और इतने वजन वाली ट्रेनें भगाते हो नहीं भगाते हो क्या नहीं जानते तो लोग तो ओ हो, ओ, कैसा होगा आत्मा ये तुम्हारी एड्रेस है ये तुम्हारी एड्रेस है तुम्हारी महिमा है कोई गैर नहीं है आकाश पाताल में बैठ के इतना बड़ा आत्मा है कितने वजन वाली पृथ्वी बना देते हो सारी पृथ्वी बना देते हो रेलगाड़ियां दौड़ती रहती और पलंग जो का है पलंग दबता नहीं है गंगा जी की धारा बहती है और बिस्तर भीजता नहीं भीगता क्या बिस्तर हाँ, गंगा नहीं गंगा नहीं बहाते सपने में और नहाते भी हो ठुठरते भी हो यही आत्मा की लीला है ना ओम नारायण नारायण नारायण नारायण का अर्थ ही है नर नारायण का नर नारी का अयन नर नारी का अयन वो आत्मा वही आत्मा का ही नाम है कृष्ण कहो तो भी उसी का नाम है गोविंद कहो तो भी उसी का है गोपाल कहो गुरु नाम भी उसी परमेश्वर का है गुरु माना बड़ा दूसरा है गु माना अंधकार रू माना प्रकाश अंधकार मिटा के प्रकाश करते वो गुरु अथवा तो बोले गुरु शिखर सबसे बड़ा शिखर हुए सबसे बड़ा सबसे बड़ा सदगुरु ही होता है भगवान भी वहां मत्था टेक ले भगवान भी चेला बन जाए क्या ख्याल है ए? और उसमें कुछ वजन नहीं होता उसकी कोई उम्र नहीं उसका कोई रूप नहीं उसका कोई रंग नहीं उसकी कोई जाति नहीं कैसा है आत्मा की जाति भी नहीं होती रूप भी नहीं होता रंग भी नहीं होता वजन भी नहीं होता दिखता भी नहीं आंखों से भी नहीं दिखता जीभ से चखा भी नहीं जाता जिसे चखने की सत्ता आती वो है जिसे देखने की सत्ता आती वो है मन से भी नहीं आता जिससे मन स्फूर्ता है वो है बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आता बुद्धि बदल जाती है लेकिन बुद्धि को जो सत्ता देता है वो है ऐसा आत्मदेव उसमें जो जगह है उस पुरुष की तुलना कौन कर सकता है तस्य तुलना के न जायते अष्टावक्र ने जनक को कहा है उसकी तुलना कैसे करोगे किससे तोलोगे इंद्र भी जहां बोना हो जाता है इंद्र भी आत्मज्ञानी के चेले का स्वागत करता है उस ब्रह्मज्ञानी को तो किससे तोलोगे तस्य तुलना के न जाए थे अष्टावक्र ने जनक को कहा श्रद्धस्वता श्रद्धा तो थी अस्सी साल का जनक विशाल काया विशाल हिमसम शरीर और बारह साल का अष्टावकर टेढ़ी टांगे नाटा शरीर काला कलूट आठ खोड़ खापड़ वो तो सिंहासन पर बैठा और राजा चरणों में बैठा है अपने राज्य में श्रद्धा तो है फिर भी कहते हैं श्रद्धस्वता श्रद्धस्व और श्रद्धा कर ये अनजानी चीज है ना इसको आंखों से थोड़ी जान सकता है बुद्धि से थोड़े तोड़ सकेगा श्रद्धा कर और स्वीकार करें माँ माँ ये मेरा बाप है वो मेरे को पता चले फिर मानूंगा अरे श्रद्धा कर कंजर नहीं नहीं आप कहती हो मैं मानता तो हूँ ये मेरे पिताजी लेकिन मेरे को पता चलना चाहिए ना हाँ बेटे को कैसे पता चलेगा कि ये बाप है माँ के वचन पे ही श्रद्धा करनी पड़ेगी देख के मानेगा बाप को है हाँ? अपने बाप को देख के फिर मानेगा कि कहने से मानेगा हम्म। ऐसे उपनिषद रूपी माता से के वचन से मानना है उपनिषद रूपी माता कहती है ये परमात्मा यो वत भूमा तत्सुखम नारद जी को कितनी विद्याएं कितनी शक्ति थी फिर भी नारद जी को साक्षात कर नहीं था तो उनको शोक हो जाता था फिर सनकादि के चरणों में गए तो सनकादि ने कहा तुम क्या क्या सीखे हो बोले चार वेद जानता हूं अठारह पुराण अला विद्या बला विद्या भूत पिशाचों की तो छोटी विद्या तो पहले ही जान के छोड़ दी और क्या जानते हो बोले क्रांति के बाद शांति कोई ऐसा आरामी है तो वहां झगड़ा करा के फिर शांति ये सब जानता हूं लेकिन जिस जिससे सब जाना जाता है उसी को नहीं जानता हूं जिससे सब होता है उसको नहीं जानता हूं बाकी बहुत जानता तो सनकादि ऋषियों ने कृपा करके उपदेश ही दिया यो वत भूमा तत् सुखम जब उस भूमा को जानेगा तभी सुखी होगा तभी पूर्ण ज्ञान होगा पत्ते को जाना डाली को जाना इसको जाना उसको जाना मूल को जाना दुनिया भर की सब विद्या आ गई और उस आत्मा को नहीं जाना तो अंधकूप में पड़ा हो दुनिया भर का वैभव मिल गया आत्म वैभव नहीं मिला तो अंधकूप में पड़ा दुनिया भर का सौंदर्य पाया लेकिन आत्म सौंदर्य का पता नहीं अरे अष्टावकर कुरूप है और आत्म सौंदर्य से इतने संपन्न है कि जन राजा चरणों में प्रणाम करके अपना भाग्य बनाते ये आत्मा का ऐसा सौंदर्य है सोक्रेटिस सुकरात कितने कुरूप थे फिर भी आत्म सौंदर्य से सम्मानित हो गए सुकरात भी बड़ी बड़ी आंखें थी चिपटा सा नाक था काला चेहरा था सुकरात कुरूप थे है हाँ? फिर भी बड़े बड़े धनवान बड़े बड़े विंदवान बड़ी बड़ी सुंदरियां और सुंदर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते ऐसा आत्मज्ञान का सौंदर्य होता है जिसका वजन नहीं उसका सौंदर्य देख लो जिसकी जाति नहीं उसका प्रभाव देख लो भगवान भी उसी से भगवान बनते इसका नाम है आत्मा इंद्र भी उसी से बनते ये सारी सृष्टियां भी उसी से बनती और उसी में लहरा रही उसी में लीन हो जाती उसका कोई वजन नहीं बोलो कोई रूप नहीं कोई रंग नहीं और सारे रूप उसी से बनते हैं सारे रंग उसी से बनते हैं तुम्हारे आत्मा का रूप नहीं और रात को रूप रंग नहीं बनते क्या बनते ना फूल खिल रहे हैं पक्षी रंग बिरंगी पक्षी किलोल कर रहे हैं रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए वे लोग पसार होते हैं तो तुम्हारे आत्मा का तो रंग नहीं फिर कहां से रंग आ जाते हैं बोले मन के संस्कार से मन के संस्कार से रंग आए ये सुना है लेकिन संस्कार कहाँ से आए बोले दुनिया से तो दुनिया कहाँ से आई अरे दुनिया भी तीन अवस्था होती है जागृत की दुनिया फिर स्वप्ने की दुनिया फिर गहरी नींद की दुनिया सब बदलती फिर भी नहीं बदलता वो कौन है खोजते खोजते शिष्य वहां रुक जाता है गुरु जी कृपा कर देते होता है साक्षात्कार ये कोई कठिन नहीं है लंबा रास्ता नहीं है तड़फ हो बस ऐसा बारह बारह साल की तीर्थ यात्रा करो तो भी इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जो आज मिल गया बारह साल नंगे पैर घूमो बारह साल शीर्षासन करो तो भी इतनी समझ नहीं मिलती जितनी अभी मिल गई हंसते खेलते है? हाँ? तुलसीदास ने कहा न तन सुखाए पिंजर की ओस जैसे शरीर को सुखा के पिंजरा बना दे धरे रहन दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान आत्मज्ञान का विचार किए बिना वासना का अंत नहीं होता और अनंत से की अनुभूति नहीं होती अनंत की अनुभूति कौन करेगा शांत करेगा बोलो तो अनंत की अनुभूति भी अनंत ही करता है कि शांत ही शांत हो जाता है जीव जीव ब्रह्म हो जाता है और ब्रह्म होना क्या है वो तो है ही है उसको पता चल जाता है अरे नहीं जाना तो मेरा नाम जीव था मेरा नाम मुरादाबादी था अब जान लिया तो मैं तो ए, हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप नहीं जाना तो मुरादी था नहीं जाना तो कानपुरी था लखनऊ था हिंदुस्तानी था जाना तो सारे ब्रह्मांड मुझी में तेरा उतरा रहे ऐसा अनुभव होता है ब्रह्मवेता का उधर शब्द नहीं जाते हैं नमक की पुतली गई समुद्र का था लेने वो खो गई अरे खो नहीं गई बेटे समुद्र हो गई ऐसे जीव खो नहीं गया ब्रह्म हो गया गड़े का आकाश महाकाश खोजने गया तो गड़ा फूटने के बाद महाकाश मिलेगा कि अभी है वो ऐसे ही मरने के बाद आत्मा मिलेगा कि अभी हो हाँ। ऐसा नहीं कि मर जाए फिर जाएंगे आत्मा के पास ऐसा नहीं मर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर की कल्पना इसलिए है कि नीचे के केंद्रों में जाएगा तो नीचे गति है ऊपर के केंद्रों में जाएगा इसीलिए ऊपर ऊपर ऊपर बाकी भगवान है ये भगवान भगवान उधर है तो इधर क्या है फिर भी वो कल्पना सार्थक है मन बुद्धि ऊपर के केंद्रों में विकार नीचे के केंद्रों में होते इसलिए ऊपर ऐसा नहीं बोलते जो भाग्य हो हे भगवान ऐसा नहीं बोलते हे भगवान या अल्लाह ऐसा नहीं बोलते हे गॉड हे अल्लाह तस्य तुलना के न जायते से न किंचित वासना हृदय मुक्तात्मनो वितृप्त तुलना के न जायते अष्टावकर गीता अठारवाध्याय उन्नासीवा श्लोक जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है जिसके हृदय में कुछ भी पाने की वासना नहीं है जो भली भांति संतुष्ट है उसकी तुलना किससे की जा सकती है किसी से भी नहीं वह तो अतुलनीय होता है ब्रह्मज्ञानी अतुलनीय होता है उसकी तुलना करना खोपड़ी को खराब करना है जैसे हनुमान जी का बल अतुलनीय है ऐसे ज्ञानी की ज्ञान सत्ता महिमा अतुलनीय अतुलित बल धामा हनुमान जी ऐसे ही अतुलित ज्ञान समुद्र अतुलित सत्ता चैतन्य भगवान राम ब्रह्मज्ञानी थे और हनुमान जी में शक्ति थी शक्ति वाले हनुमान जी राम जी के चेले बने लो कितनी शक्तियां थी हनुमान जी में फिर भी राम जी के चेले बने क्योंकि राम जी ब्रह्मवेता थे राम जी साक्षात्कारी पुरुष थे हनुमान जी रिद्धि सिद्धि वाले थे ज्ञानी के निकट जितना सुपात्र लोग ज्यादा होते उतना समाज का भला होता है और जितना हलकट लोग ज्यादा होते उतना समाज को हानि होती कई ऐसे ज्ञानी महापुरुष देखे लेकिन उनके निकट हलकट लोग आए तो समाज वंचित रह गए हम्म? जैसे घाट वाले बाबा है दूसरे कई बाबा है इर्द गिर्द कोई महान आत्मा सत्पात्र नहीं मिला तो कोने में ही रह गए रामकृष्ण को विवेकानंद मिला तो लोगों को लाभ हुआ सा बापू को कोई मिला तो लोगों को लाभ हुआ विवेकानंद को कोई मिला नहीं तो देख लो फिर वहीं गाड़ी रुक गई नानक जी को भाई लहना मिल गए तो कहाँ चलो लहना को अमरदास मिले तो चली गाड़ी ऐसे दस परंपरा चली फिर नहीं मिला तो बोले गुरु मान्यो ग्रंथ अब ग्रंथ में घूमो ब्रह्मज्ञानी गुरु को सत्पात्र मिलना बहुत मुश्किल होता क्योंकि बहुत ऊंचाई है ना ऐसा पात्र श्री चंद लक्ष्मी चंद ऐसे बैठे थे तो भी देखो पात्र साबित नहीं हुए ना तभी तो भाई लहना लहना की भी कसौटियां हुई अब कृष्ण इतने महान फिर भी कोई पात्र कृष्ण को नहीं मिला अपने बेटों को अपने हाथों से मारना पड़ा कि बेटे होंगे तो मेरे नाम से लोगों का शोषण करेंगे आरानी चलो फिर करो सफाया इनका भी <laughs> देख लो कृष्ण की तटस्थता नानक जी ने देख लो तटस्थता ज्ञानी की तटस्थता की कोई तुलना नहीं कर सकता अज्ञानी के लिए अहोभाव आए तो कल्याण बड़ा तेजी से होता है और ज्ञानी के लिए दोष दर्शन आए तो तबाही भी बुद्धि नाश भी जल्दी होती है ब्रह्मज्ञानी गुरु के लिए दोष दर्शन आए तो बुद्धि और स्वास्थ्य तबाह होने लगता है और उनके लिए अहोभाव आवे तो बुद्धि और स्वास्थ्य सुविकसित होने लगता है ऐसा अनुभव है कईयों का अनुभव है हाँ? हम्म। देखो अहोभाव हो गया माता जी का तो चौरासी साल की उम्र में जो मरने वाली थी तो स्वास्थ्य और बुद्धि कितनी विकसित हो गई है हाँ? माता जी की मेरी माँ की अहोभाव था और जो दूसरे लोग देख देख के ईर्षा करते थे तो अब बहुना करके मर गए बेचारे हैं प्रेम जी जानते हैं उनको खिन्न होके फिर जल्दी मर जाते लोग दोष दर्शन करते ना ज्ञानवान में तो उनकी बुद्धि स्वास्थ्य सब डाउन हो जाता मती मारी जाती रब कहीं आकाश पाताल में नहीं सर्वनियता सर्वनियामक अंतरात्मा देव परमात्मा रब है अपनी करनी से ही हमारी मति गति ऐसे करते रहते हैं सतत करनी आप अपनी के नेड़े के दूर अपनी करनी से हम भगवान और गुरु के निकट हो जाते हैं और अपनी विकृति से हम भगवान और गुरु से दूर हो जाते हैं हम डीसा और अहमदाबाद क्या है सवा सौ डेढ़ सौ किलोमीटर का अंतर डेढ़ सौ किलो सात साल में हम तो सत्रह बार छुप के जाके आ जाते पत्नी से मिल के आते लेकिन गुरु से तो गद्दारी होती धोखा होता <laughs> है नहीं गए बिल्कुल पक्की बात है नहीं गए और हाँ, जब वहां से पसार होते गुरु जी को बोलते हैं ना हाँ, माता जी से मिलने फिर भी एक उंगली भी एक दूसरे को नहीं लगाया माता जी माता जी की बहू माता जी के तो चरण छुए होंगे लेकिन उसकी बहू को एक उंगली भी नहीं लगा सात साल रहे तो क्या है ठहरते एक दूसरे के मकान गुरु को समर्पण किया अपना आपा तो फिर अपने मन की कैसे चले हमारे बाल दाढ़ी बढ़ जाते हैं खुजलाना पड़ता गुरु जी को हम चिट्ठी लिखते आपके आगे आओ तो मुंडन करा लू या तो फिर छटाई करा लू थोड़ा तो गुरु जी का तो कभी कहीं कभी कहीं और फिर गुरु जी के सेवक ऐसा जो मेरे को भगाने में लगे थे तो चिट्ठी भी जल्दी नहीं पहुंचे फिर भी गुरु जी की महिमा थी चिट्ठी मिल भी जाती थी कई बार और फिर उत्तर लिखते कि भले थोड़ा छटाई करा लो अथवा भले मुंडन करा लो तब हम कहते जब हम समर्पित हो गए तो बाड़ी दाल हमारे बाप का थोड़ी है ये भी तो गुरु जी की संपत्ति है हम काट के फेंक दे ऐसा गद्दारी क्यों करें हम हम ऐसा मान लेते थे तो हमारे गुरु जी तो और प्रसन्न हुए गए तो इतना पक्का है तो फिर फिर गुरु जी कहाँ संभालेंगे वो तो देने को ही तो घूमते थे देने को तो घूमते ही रहते महापुरुष कहाँ संभाल के रखेंगे कहाँ छुपा के रखेंगे नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि गुरु के साथ बिताए दिन याद आके भी मन पावन हो जाता है हैं गुरु के साथ जो घड़ियां बिताई होती है उनकी याद और उनके चिंतन से भी ऐसे ही साधना होने लगती तप करने वाला जाओ तपस्वी तप करो अपन तो गुरु से बात करके उड़ान भर लेते तू जा भले साइकिल पे हम तो जहाज में जा रहे गुरु से वार्तालाप करते हैं मानसिक बड़ा आनंद और बड़ी प्रेरणा मिलती है हरी हरी ओम ओम ओम उसका कोई मूल्य नहीं चुका सकते तारीख मिले चाहे ना मिले उसके बहाने भी बहुत कुछ मिल रहा है मैं घुम्मट में बापूजी दिखने लगे फिर फोटोग्राफर नहीं फोटो ले पहले देखे दिखते नहीं फिर फोटो लिया तो देखा था फिर प्रेस में आया फिर तो लोग भीड़ बहुत हो गई संकल्प तेज हो गए आसपास के जिनके मार्बल के पत्थर में बापू दिख रहे हैं ऐसा नहीं कोई रंग रोगन ऐसे ही हाँ, साफ सुथरे और फिर फोटो लिया फिर अखबारों में आया तो फिर लोगों के संकल्प बढ़ गए तो हम अभी जाके आए पेटलावन दो तीन महीना होंगे आपने पढ़ा होगा ऋषि प्रसाद में जिसने पढ़ा देखा फोटो हाथ ऊपर कर लो सैकड़ों लोग हैं लो सैकड़ों लोग हाँ आपने देखा ना फोटो ऋषि प्रसाद में वही जगह पेटलावन घुमट में जो बापू का मंदिर बना है उसमें फोटो देखा होगा ऋषि प्रसाद में छापा नारायण हरि नारायण हरि ओम ओम ओम जीवन का फल ही यही है ईश्वर प्राप्ति बाकी कुछ पाया तो धोखा फूला नहीं समाता कि मैंने दस करोड़ पाए मैंने दस अरब पाए अरे मूर्ख है संभाल संभाल के मरने वाला कचरा पाया है ईश्वर को छोड़ के कुछ भी पाया तो मुसीबत पाया ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा तो अभी रो ले के हाय रे हाय आयुष्य बीत रही है प्रभु तेरी प्रीति दे दे तेरा ज्ञान दे दे तुझे दिलाने वाले सतगुरु दिला दे Hmm. जब तक जी में जान रहे तन में प्राण रहे प्रीत की डोरी तेरे तरफ बढ़ती रहे डर यह है कि कहीं मैं बिछड़ न जाऊं क्योंकि माया का आकर्षण बहुत है कोई धन में डूबा है तो कोई धन के कर्जे से डूबा है कोई नाक का मजा लेने में डूबा है तो कोई काम इंद्री के मजे में खपरा है ऐसी है विचित्र माया और देखता है कि कुछ भी नहीं मिलता फिर फिर से चाहे सौ सौ जूता खाए तमाशा तमाशा यही है कि मैं आयुष्य नष्ट हो रही બહુ ચતુરાઈ કરે બહુ દોડ થાય પણ જાય છે અંધકૂપમાં લે અને એ સાંભળવાની શક્તિ છે એ કંઈક પુણ્યાય છે नहीं तो કે જો મને તો ટકોર કરી મારી તો ઇજ્જત ગણ અહમને भागे पुण्य ભાગે પુણ્ય ઓછા હોય ને तो हाचू हाँ ને તો સાચું ना जिसका पाप बढ़ जाता है ना वो सच्ची बात अपने हित की बात भी सीधी नहीं समझेगा उल्टा लेके दुखी हो जाएगा गुरु कहते हित के लिए लेकिन वो पाप बढ़ जाएगा तो हम उल्टा ले लेते हैं देखो हमारे को टोका ये सत्संग हमारे ऊपर था आज हमारे ऊपर था अरे सत्संग में तो तुम्हारे जैसे कई अंताकण होते हैं तुम अपने तरफ लो उल्टा करके लो पचो तुम्हारी मर्जी सुलटा करके लो हृदय खिलाओ तुम्हारी मर्जी सत्संग तो होता ही है मनुष्य की उन्नति और पतन का अनुवाद का नाम ही तो सत्संग है <laughs> सत्संग क्या होगा सत्य सत्य सत्य सत्य करके बैठेंगे क्या सत्संग तो होगा मानव की उन्नति और पतन के अनुवाद की व्याख्या का नाम सत्संग है इससे पतन होता है इससे उन्नति होती है और उन्नति के ये साधन है और पतन तुम्हारा ऐसे हो रहा इसी का नाम तो सत्संग है सत्य का संग करने की रीत बताते और सत्य से च्युत होने का खाइया बताई जाती सत्संग में अरे बोले आज तो मेरे पर हुआ और सात्विक है तो बोले आज तो मेरे पर सत्संग हुआ और मेरे तो पाप धुले मेरी बेवकूफी हटी बापू की कृपा है भगवान की कृपा है वाह वाह मैं ऋण नहीं चुका सकता अहोभाव से भर जाएगा सात्विक होगा तो राजसी होगा तो बोले ठीक है अपनी भलाई के लिए है अतामसी होगा तो हराम ज्यादा हो देख अब मैं दिन के तारे दिखा दूंगा इनको <laughs> निंदा चालू कर देगा कुछ का कुछ कर देगा करो फिर ऐसे भी कई आते हैं वशिष्ठ जी की भी निंदा करते थे तुलसीदास की भी नानक जी के लिए भी उल्टा मार्ग दसेंदा जी <laughs> और नानक जी तो उनको उल्टे कूप से बचने के लिए बोलते थे और वही जाके नानक जी की निंदा करते उल्टा मार्ग दसेंदा जी क्योंकि हमारे अहम का पोषण नहीं हुआ यहाँ हमारे अहम की घुटाई पिटाई हुई तो उल्टा मार्ग दसेंदा जी नानक के लिए बकते थे लोग उल्टा मार्ग दसेंदा जी छंडो एनु तो तुम सत्संग सुनते हो लेकिन तुम्हारा नजरिया कैसा है सत्संग में से अपना कल्याण लेते हो कि अपना अवकल्याण ढूंढते हो आपको नहीं अपने आप सब लोग ये तो तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं ये तो करोड़ों लोग सुनेंगे ना कैसेट भी बन रही है ना ये तो करोड़ों लोग सुनेंगे तो आप सत्संग से क्या लेते हो अपनी उन्नति लेते हो कि अपना अहम पोषण लेते हो कि अहम विसर्जन लेते हो अहम विसर्जन का इरादा है तो आप तो सत्संग को सीधे अर्थ से लोगे और अहम सर्जन का इरादा है तो फिर सत्संग को आप मनमाने ढंग से तोड़ मोड़ करोगे आपकी सराहना की बात आई वो उठाकर फोटो उठाकर वाक्य लेकर प्रचार कर लोगे कि देखो बापू ने हमारे लिए ऐसा कहा ऐसा कहा आपकी घड़ाई की बात आई तो मुंह छुपा के बैठ जाओगे <laughs> हम्म। सत्संग में तो दोनों बातें आएगी बच्चे को कभी पुचकारा भी जाता है कभी डांटा भी जाता है उसकी उन्नति के लिए ही होता है डांटा जाए तो रूठ जाए दुश्मन बन जाए पुचकारा जाए तो जाके दुनिया को दिखावे <laughs> नारायण हरि नारायण हरि नारायण तो अपने मन रूपी बच्चे को जैसे बालक को लाल्यते पाल्यते बालवत मना बच्चे को जैसे कभी डांट के कभी पुचकार के कभी प्यार दे के चलाया जाता है ऐसे अपने मन को भगवान की तरफ चलाना चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए मन को पुचकार के चलाना चाहिए कभी डांट के कभी पुचकार के कभी प्रलोभन दे के चल भैया तुझे पिया मिलेंगे किया का रस मिलेगा पुण्य मिलेगा ऐसा होता है ऐसा सीधा मन चल नहीं पड़ता जल्दी से स्कूल में बच्चे जल्दी से पढ़ने नहीं लग जाते हैं सब करना पड़ता है माँ को बाप को शिक्षक को है हाँ? नारायण हरि नारायण हरि हरि हरि परमात्मने नमः ओम ओम ओम हरे नमः